और कहते हैं कि ये तो पिछले लोगों की लिखी हुई कहानियां हैं जो इस शख्स ने लिखवा ली हैं और सुबह शाम वही इसके सामने पढ़कर सुनाई जाती हैं